अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले कि अल्लाह की जानब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है तुम्हें उस रोज ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी न छुपकर अनजान बन जाने की